सातवा द्वार भी पार कर गया तो क्या तुझे अपने भविष्य का पता है आने वाले कल्पों में स्वेच्छा से जीने के लिए तू बाध्य होगा लेकिन मनुष्यों द्वारा न देखा जाएगा और न उनका धन्यवाद ही तुझे मिलेगा बोधिसत्व की जो स्थिति है उसे समझे तो ये सूत्र समझ में आएगा बोधि सत्व शरीर से मुक्त हो जाता जगत उसे देख नहीं पाता लेकिन वो जगत को देख पाता है जगत उसे समझ नहीं पाता लेकिन वो जगत को समझ पाता है और जगत को न मालूम कितने उपायों से वो सहायता भी पहुंचाता है उसका कोई धन्यवाद भी उसे नहीं मिलता मिलने का कोई कारण भी नहीं क्योंकि जिन्हें सहायता पहुंचाई जाती है वे उसे देख भी नहीं सकते ये सूत्र कह रहा है कि अगर तू सातवां द्वार भी पार कर गया तो फिर एक धन्यवाद रहित कार्य में तुझे पड़ जाना होगा कोई तुझे धन्यवाद भी न देगा कोई जानेगा भी नहीं कि तूने क्या किया कोई पहचानेगा भी नहीं कहीं लिपिबद्ध न होगी तेरी बात जो सहायता तूने पहुंचाई उसे तू ही जानेगा वे भी नहीं जानेंगे जिन्हें सहायता पहुंचाई गई स्वभावतः ऐसे कृत्य में कोई तभी उलझ सकता है जब उसकी अस्मिता पूरी मिट गई हो अहंकार तो एक ही बात में उत्सुक होता है कि मैं जाना जाऊं माना जाऊं कोई धन्यवाद स्वीकार करे कोई अनुग्रहित हो बोधिसत्व की अवस्था तो उपलब्धि होती है अहंकार के मिट जाने के बाद तो अब ये सवाल नहीं है कि जिसको सहायता दी है वो अनुग्रहित हो अब तो सहायता देना ही अपने आप में पर्याप्त है लेकिन ये सूत्र एक बात और कहता है जो बड़ी अजीब और बड़ी विरोधाभासी है ये कहता है आने वाले कल्पों में स्वेच्छा से जीने के लिए तू तो बाध्य होगा ये बड़ी उल्टी बात है स्वेच्छा से जीने के लिए बाध्य कोई तुझे तो मजबूर नहीं करेगा कि तू बोधिसत्व बन कोई तुझे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि तू मनुष्य की सेवा में लग कि सोए हुओं को जगा कि भटके हुओं को मार्ग पर ला कोई तुझे बाध्य नहीं करेगा तू चाहे तो खो सकता है महाशून्य में तू चाहे तो लग सकता है इस महाकारी में महाकरुणा के कार्य में इसलिए बड़ी उल्टे शब्दों का प्रयोग किया है स्वेच्छा से जीने को बाध्य होगा लेकिन तेरी स्वेच्छा ही तुझसे कहेगी कि तू जी रुक ठहर खो मत जा उनके काम पर अभी जिन्हें जरूरत है ये तेरी स्वेच्छा की ही बाध्यता होगी बाध्यता तो होती है हमेशा अपनी मर्जी के बिना कोई और जोर जबरदस्ती करता है बोधिसत्व की स्थिति में कोई जबरदस्ती प्रकृति की नहीं रह जाती परमात्मा का भी कोई आग्रह नहीं रह जाता नियम के बाहर हो गया वो व्यक्ति उसे अब चलाया नहीं जा सकता वो चलना चाहे तो चल सकता है उसे रोका नहीं जा सकता वो रुकना चाहे तो रुक सकता है हम सब इस जगत में चलते हैं कार्य और कारण के नियम में बंधे कॉजलिटी में बंधे हम जो भी कर रहे हैं वो हमें लगता है हम कर रहे हैं लेकिन हम करते नहीं हमसे करवाया जाता जब आपको क्रोध होता है तो आपको लगता है आप क्रोध करते लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि मुझे मुझसे बहुत क्रोध हो जाता है कैसे रोकू तो उनसे मैं पूछता हूं क्या सच में तुम क्रोध करते हो अगर तुम ही करते हो तो रोक सकते हो लेकिन क्रोध कौन करता है जैसे अवस स्वेच्छा के विपरीत मजबूरी में किया जाता है आपसे करवा लिया जाता है आप करते नहीं करते होते तब तो मालिक थे तो इसे ऐसा समझे कि अगर आपसे कोई कहे कि अभी क्रोध करके दिखाएं तो आप क्रोध ना कर सकेंगे तो आप करते हैं इस भ्रांति में मत रहे और जब क्रोध हो रहा है तब कोई कहे कि इसी वक्त रुक जाए तब आप रुक ना सकेंगे तो क्रोध आपको चला रहा है आप क्रोध को चलाते हैं ऐसा नहीं प्रेम आपको चला रहा है आप प्रेम को चलाते हैं ऐसा नहीं आपकी जिंदगी में जहां जहां आपको लगता है मैं कर रहा हूं आप भ्रांति में होते हैं आप कर नहीं रहे होते आपसे करवाया जा रहा होता है अभी आप नियमों से बंधे हैं इस नियम की प्रक्रिया को हमने कर्म की श्रृंखला कहा है विज्ञान इसे कॉजलिटी कहता है कार्य कारण का नियम कहता है अगर पानी को भी बुद्धि हो तो जब पानी गर्म होकर भाप बनता है तो पानी सोचेगा मैं भाप बन रहा हूं और जब पानी ठंडा होकर बर्फ बनेगा तब पानी सोचेगा कि मैं बर्फ बन रहा हूं लेकिन पानी भाप बन रहा है या बनाया जा रहा है पानी बर्फ बन रहा है या बनाया जा रहा है पानी अवश्य है कार्य कारण का नियम काम कर रहा है और नियम के भीतर सभी दबे हैं इसको हम भाग्य कहें तो भी चलेगा इसलिए जो बहुत गहरी खोज भारत की है वो भाग्य की है जैसे पश्चिम के विज्ञान ने कार्यकारण खोज लिया कि सारा जीवन नियमों से बंधा हुआ चल रहा है और नियमों के बीच संकल्प की बात कि मैं कर रहा हूं सिर्फ मनुष्य के झूठे अहंकार की प्रतीक है कोई स्वेच्छा कोई फ्री विल है नहीं आदमी बंधा हुआ है बिल्कुल परतंत्र यहां जो भी हो रहा है अगर हम उसको ठीक से खोज पाए तो हमें उसके कारण मिल जाएंगे कि किस कारण वो हो रहा है आप कर रहे हैं ऐसा नहीं कारण आपको दिखाई नहीं पड़ता इसलिए आप मजे से ये माने चले जाते हैं कि मैं कर रहा हूं पानी को भी दिखाई नहीं पड़ता कि नीचे आग चल रही है जो उसे गर्म कर रही है जिसकी वजह से वो बाप बन रहा है रास्ते पर चलते हुए आपको एक स्त्री दिखाई पड़ती पुरुष दिखाई पड़ता है सुंदर मकान दिखाई पड़ता है भीतर एक वासना चल जाती है ये स्त्री मेरे पास हो ये मकान मेरे पास हो आप सोचते हैं कि आप ये वासना कर रहे हैं भीतर कोई आग चल रही है जिससे आप गर्म और उत्तप्त हो रहे हैं वही आग वासना बन रही पर आप सोच रहे हैं मैं कर रहा हूं अगर आप कर रहे हैं तो रोक के देखिए तो पता चल जाएगा क्योंकि जो भी आप करते हैं वो आप रोक सकते हैं तो सुंदर स्त्री दिखाई पड़े और मन में वासना ना उठे ऐसा करके देखिए पानी अगर ये मानता है कि वो भाप बन रहा है तो उसे ये करना चाहिए कि नीचे आग जले, जले और वो भाप ना बने तो पक्का हो जाएगा कि आग से नहीं भाप बन रहा है अपनी स्वेच्छा से बन रहा है गर्मी नीचे गिरती जाए शून्य डिग्री के नीचे पहुंच जाए और पानी इंकार कर दे बर्फ न बने धन आपके सामने पड़ा हो हीरे जवाहरातों का ढेर लगा हो और आपके भीतर वासना न जगे उनके मालिक बन जाने की तो समझना कि वासना आप कर रहे हैं जिसे हम रोक नहीं सकते उसे हम कर रहे हैं ये भ्रांति है जो हमारे बस में नहीं है उसके हम बस में है पर आदमी के अहंकार को चोट लगती है इस देश के मनुष्यों ने तो सदा कहा है कि आदमी भी प्रकृति के कार्य कारणों से बंधा चल रहा है इसको हम नियति कहते हैं भाग्य कहते हैं आपके किए कुछ हो नहीं रहा और जब हमने ये कहा कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी की बातें छोड़ दें ये प्रकृति का विराट नियम ही सब हिला रहा है पत्ता भी हिलता है तो इस विराट नियम से हिलता है आप इसमें बीच में अपने मैं को खड़ा मत करें अगर ये भी ख्याल में आ जाए तो आपकी जिंदगी में क्रांति हो जाएगी तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं क्रोध करता हूं आप यही कहेंगे कि क्रोध होता है प्रेम होता है घृणा होती है सुख होता है दुख होता है अगर ये बात आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाए कि आपके भीतर भी प्रकृति के अंधे नियम काम कर रहे हैं और आप उनके मालिक नहीं हैं तो मालिकियत की पहली किरण आपके भीतर पैदा हो गई ये समझ भी लेना कि मैं गुलाम हूं मालिकियत की शुरुआत है और गुलाम अपने को यह समझे रहे कि मैं मालिक हूं तो फिर उसकी मालिकियत कभी भी तय नहीं हो सकती क्योंकि वो भ्रांति में ही मरेगा बोधिसत्व हमसे बिल्कुल दूसरा छोर है जहां नियम धक्का देना बंद कर देते हैं जहां पानी गर्म करके भाप नहीं बनाया जा सकता जहां पानी ठंडा करके बर्फ नहीं बनाया जा सकता बोधि सत्व अहंकार के छूटते ही विराग के जन्मते ही ध्यान की उपलब्धि पर प्रज्ञा की किरण के पैदा होते ही धीरे धीरे धीरे जिन जगत में काम होता है नियमों का उसके पार हो रहा है स्वेच्छा के जगत में प्रवेश कर रहा है बुद्ध के जीवन में बड़ी मीठी कथा है जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये व्यक्ति या तो सम्राट होगा या सन्यासी होगा सब लक्षण सम्राट के थे फिर बुद्ध तो भिक्षु हो गए सन्यासी हो गए और सम्राट साधारण ही चक्रवर्ती सम्राट होगा सारी पृथ्वी का सम्राट होगा बुद्ध एक नदी के पास से गुजर रहे हैं निरंजना नदी के पास से गुजर रहे हैं रेत पर उनके चिन्ह बन गए गीली रेत है तट पर उस पर उनके पैर के चिन्ह बन गए एक ज्योतिषी काशी से लौट रहा है अभी अभी ज्योतिष पढ़ा है ये सुंदर पैर रेत पर देखकर उसने गौर से नजर डाली पैर में जो चिन्ह बन गया है नीचे वो खबर देता है कि चक्रवर्ती सम्राट का पैर है ज्योतिषी बहुत चिंतित हो गया चक्रवर्ती सम्राट का अगर ये पैर हो तो इस साधारण सी नदी की रेत पर चक्रवर्ती चलने क्यों आएगा और वो भी नंगे पैर चलेगा कि उसके पैर का चिन्ह रेत में बन जाए बड़ी मुश्किल में पड़ गया सारा ज्योतिष पहले ही कदम पे व्यर्थ होता मालूम पड़ा अभी अभी लौटा था निष्णात होकर ज्योतिष में अपने पोथी अपना शास्त्र सांत लिए था सोचा इसको नदी में डुबा के अपने घर लौट जाऊं क्योंकि अगर इस पैर का आदमी इस नदी की रेत पर भर दोपहरी में चल रहा है नंगे पैर और इतने स्पष्ट लक्षण तो कभी युगों में किसी आदमी के पैर में होते हैं कोई चक्रवर्ती सम्राट हो तो सब हो गया व्यर्थ अब किसी को ज्योतिष के आधार पर कुछ कहना उचित नहीं इसके पहले कि वो अपने शास्त्र फेंके उसने सोचा लेकिन जरा देख भी तो लू चल के इन पैरों के सहारे वो आदमी कहा उसकी शक्ल भी तो देख लो ये चक्रवर्ती है कौन जो पैदल चल रहा है तो उन पैरों के सहारे वो गया एक वृक्ष की छाया में बुद्ध विश्राम कर रहे थे और भी मुश्किल में पड़ गया क्योंकि चेहरा भी चक्रवर्ती का था माथे पे निशान भी चक्रवर्ती के थे बुद्ध की आंखें बंद थी उनके दोनों हाथ उनकी बाल्टी में रखे थे हाथ पर नजर डाली हाथ भी चक्रवर्ती का था ये देह ये सब ढंग चक्रवर्ती था और आदमी भिकारी था भिक्षा का पात्र रखे वृक्ष के नीचे बैठा था भर दोपहरी में अकेला था हिला के बुद्ध को उसने कहा कि महानुभाव मेरी वर्षों की मेहनत व्यर्थ किए दे रहे हैं ये सब शास्त्र नदी में फेंक दू या क्या करूं मैं काशी से वर्षों मेहनत करके ज्योतिष सीख के लौट रहा हूं और तुम में जैसे पूरे लक्षण प्रकट हुए हैं ऐसे सिर्फ उदाहरण मिलते हैं ज्योतिष के शास्त्रों में आदमी तो कभी कभी हजारों लाखों साल में ऐसा मिलता है और पहले कदम पे तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया तुम्हें होना चाहिए चक्रवर्ती सम्राट और तुम ये भिक्षा पात्र रखे इस वृक्ष के नीचे क्या कर रहे तो बुद्ध ने कहा शास्त्रों को फेंकने की जरूरत नहीं तुझे ऐसा आदमी दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा जल्दी मत कर तुझे जो लोग मिलेंगे उन पर तेरा ज्योतिष काम करेगा तू संयोग से दुर्घटनावश ऐसे आदमी से मिल गया है भाग्य की सीमा के बाहर हो गया है लक्षण बिल्कुल ठीक कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो यही होने की संभावना थी अगर मैं बंधा हुआ चलता प्रकृति के नियम से तो यही हो जाता तू चिंता में मत पड़ तुझे बहुत बुद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे जो तेरे नियमों को तोड़ दें और जो अबुद्ध है वो नियम के भीतर है जो अजागृत है वो प्रकृति के बंधे हुए नियम के भीतर है जो जागृत है वो नियम के बाहर है जागृत व्यक्ति का संकल्प होता है उसकी स्वेच्छा होती है वो जो चाहे करे इसलिए सूत्र बड़े मजे की बात कहता है ये कहता है स्वेच्छा से जीने के लिए तू बाध्य होगा कोई तुझे बाध्य न कर सकेगा कि रुक और सेवा कर रुक और करुणा से लोगों को जगा और सोए पीड़ित दुखी विक्षिप्त लोगों की बीमारी दूर कर उनके लिए औषधि बन उनके लिए चिकित्सक बन कोई तुझे बाध्य न करेगा लेकिन तू स्वयं ही बाध्य होगा ये तेरी स्वेच्छा ही होगी तू स्वयं ही चुनेगा कि मैं रुक जाऊं लेकिन तू मनुष्यों के द्वारा न देखा जाएगा और न उनका धन्यवाद ही तुझे मिलेगा और अभिभावक दुर्ग को बनाने वाले अन्य अनगिनत पत्थरों के बीच तू भी एक पत्थर बनकर जिएगा करुणा के अनेक गुरुओं के द्वारा निर्मित उसकी यातनाओं के सहारे ऊपर उठा और उनके रक्त से जुड़ा ये दुर्ग मनुष्य जाति की रक्षा करता है क्योंकि मनुष्य मनुष्य है इसलिए यह उसे भारी विपदाओं और शोक से बचाती यह एक प्रतीक है सत्य समझने योग्य पहली तो बात यह कि बोधिसत्व का कृत्य दिखाई नहीं पड़ता बोधिसत्व भी दिखाई पड़ जाए तो भी उसका कृत्य दिखाई नहीं पड़ता वो जो कर रहा है वो सूक्ष्म है वो जो कर रहा है वो आपके अचेतन में वहां काम कर रहा है जहां का आपको भी पता नहीं उसके करने के अपने रास्ते हैं तिब्बत में एक शब्द है तुलकु बिलवटस्की को भी तिब्बत में तुलकु ही कहा जाता था तुलकु का अर्थ होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बोधिसत्व के प्रभाव में इतना समर्पित हो गया है कि बोधिसत्व उसके द्वारा काम कर सके बिलविटस की तुलकु बन सकी स्त्री थी इसलिए आसानी से बन सकी समर्पित थी जो लोग ब्लबडस्की के पास रहते थे वो लोग बड़े चकित होते थे जब वो लिखने बैठती थी तो आविष्ट होती थी पजेस्ट होती थी लिखते वक्त उसके चेहरे का रंग रूप बदल जाता था आंखें किसी और लोक में चढ़ जाती थी और जब वो लिखने बैठती थी तो कभी दस घंटे कभी बारह घंटे लिखती ही चली जाती थी पागल की तरह लिखती थी कभी काटती नहीं थी जो लिखा उसको ये कभी कभी होता था जब वो खुद लिखती थी तब तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी तो उसके साथी संगी उससे पूछते थे कि क्या होता है तो कहती थी जब मैं तुलकू की हालत में होती हूं तब मुझे कोई लिखवाता है थियोसॉफी में उनको मास्टर्स कहा गया है कोई सदगुरु लिखवाता है मैं नहीं लिखती मेरा हाथ किसी के हाथ बन जाता है कोई मुझ में आविष्ट हो जाता है और तब लिखना शुरू हो जाता तब मैं अपने वश में नहीं होती मैं सिर्फ वाहन होती हूँ ये पुस्तक भी ऐसे ही वाहन की अवस्था में उपलब्ध हुई है कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ लिख जाता और इसके बाद महीनों तक वो अधूरी पड़ा रहता संगी साथी बिलवटस्की के कहते कि वो पूरा कर डालो जो अधूरा पड़ा है वो कहते कोई उपाय नहीं पूरा करने का क्योंकि मैं पूरा करूं तो सब खराब हो जाए जब मैं फिर आविष्ट हो जाऊंगी तब पूरा हो जाए उसकी कुछ किताबें अधूरी ही छूट गई क्योंकि जब कोई बोधिसत्व चेतना उसे पकड़ ले तभी तभी लिखना हो सकता है ये जो बोधिसत्व है ऐसी चेतनाएं जो परम द्वार पर खड़ी हैं क्षीण होने के विलीन होने के शांत होने के नष्ट हो जाने के द्वार प्रखणी महामृत्यु अभी घटने वाली है जिनके लिए ये हजार तरह से काम करती है किसी व्यक्ति में आविष्ट हो सकती है किसी व्यक्ति को पता भी न चले उसका उपयोग कर सकती है इन सारी आत्माओं का तिब्बत में ख्याल है और ख्याल सही है कि एक दुर्ग है जो मनुष्य जाति को घेरे हुए चारों तरफ से आदमी जैसा है वो बिल्कुल पागल है और वो जो भी करता है वो सब पागलपन से भरा है और अगर आदमी को बिल्कुल उसके ही सहारे छोड़ दिया जाए तो अपने को अभिनष्ट कर ले सकता है वो जो भी कर रहा है वो सब उपद्रव से ग्रस्त है उसे कुछ पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है और क्या हो रहा है ये बोधिसत्वों का दुर्ग उसे बार बार मार्ग पर ले आता है बार बार उसे भटकने से बचाता है बार बार अनेक उपाय करके दिशा और दृष्टि देने की कोशिश करता है इस सूत्र कह रहा है कि जब तू में द्वार को भी पार कर जाएगा तब अपनी ही स्वेच्छा से तू भी इस महादुर्ग की एक ईट बनना चाहेगा अनेक गुरुओं की यातनाओं से निर्मित ये दुर्ग है ये दुर्ग मनुष्य जाति की रक्षा करता है तिब्बत में हर बुद्ध पूर्णिमा को एक विशेष पर्वत पर 500 बौद्ध लामा इकट्ठे होते हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा की रात आधी रात बुद्ध की वाणी सुनाई पड़ती है ये बोधिसत्व वाणी है एक नियत योजना के अनुसार एक नियत घड़ी में बुद्ध की वाणी उपलब्ध होती है नियत लोग निश्चित लोग जो उस वाणी को सुन सकते हैं क्योंकि वाणी अशरीरी है वे ही केवल वहां इकट्ठे होते हैं 500 से ज्यादा लामा वहां कभी इकट्ठे नहीं होते जब एक लामा उनमें से मर जाता है समाप्त हो जाता है तभी एक नए लामा को प्रवेश मिलता है स्थान गुप्त रखा जाता है क्योंकि कोई भी गैर व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो बाधा पड़ सकती है उस घटना में बुद्ध मरते वक्त वो निश्चित कर गए सदगुरु अक्सर निश्चित कर जाते हैं कि उनके साथ बाद में जब उनका शरीर ना होगा तो कैसे संबंध स्थापित किया जाए उस संबंध स्थापित करने के निश्चित सूत्र हैं और उनके ही अनुसार चला जाए तो संबंध स्थापित होते जो परंपराएं अपने गुरु से संबंध स्थापित करती रहती हैं वो जीवित है बहुत सी परंपराएं जिनका संबंध सूत्र खो गया है वो मृत है जैसे जैनों की परंपरा है वो मृत है महावीर से संपर्क सूत्र खो गया है और जैनों में आज एक भी सिद्ध पुरुष नहीं है जो महावीर से संपर्क सूत्र स्थापित कर सके इसलिए जैनों की जो भी गहन गुण विद्या है वो ढकी पड़ी है उसको उघाड़ने का कोई उपाय नहीं जैन पंडित जैन साधु और सन्यासी जो भी करते रहते हैं वो सब बौद्धिक है उसमें कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है इसलिए महावीर जैसे महाप्राण गुरु का भी संदेश जगत तक नहीं पहुंच सका क्योंकि परंपरा छिन्न भिन्न हो गई उपाय छोड़ के गए हैं महावीर जिन उपायों से उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है लेकिन कोई उपाय काम में नहीं है बुद्ध की परंपरा आज भी जीवित है आज भी संपर्क सूत्र स्थापित करने वाले लोग जो आज भी बुद्ध की वाणी उपलब्ध कर सकते हैं बुद्ध की वाणी शाश्वत उपलब्ध रहेगी बुद्ध के आश्वासन है जीसस का संबंध सूत्र खो गया ईसाइत औपचारिक धर्म होकर रह गई चर्च है पादरी है पोप है भारी विस्तार है लेकिन विस्तार है एस्टेब्लिशमेंट है भीतर जो सत्व है वो खो गया जीसस से संबंध नहीं रह गया तो ईसाइत इतनी फैल गई लेकिन फिर भी जीसस से कोई संबंध नहीं है तो प्राण नहीं है भीतर सैकड़ों परंपराएं पृथ्वी पर है हर परंपरा किसी महागुरु किसी बोधिसत्व चेतना से चलती है लेकिन उससे संबंध स्थापित होता ही रहना चाहिए क्योंकि युग बदलता है समय बदलता है भाषा बदलती है फिर से पुनः संबंध स्थापित होना चाहिए कि बुद्ध अभी क्या कहेंगे बुद्ध इस क्षण में क्या कहेंगे बुद्ध का आज के लिए क्या संदेश होगा अगर संबंध टूट जाए तो 2000 ढाई हजार साल पहले बुद्ध ने जो कहा था वो हमारे पास किताबों में रह जाता है लेकिन ढाई हजार साल पहले की जो स्थिति थी वो आज नहीं ढाई हजार साल पहले जिन लोगों से उन्होंने कहा था वो लोग आज नहीं ढाई हजार साल पहले जो विधियां उन्होंने दी थी वो आज कारगर नहीं होंगी क्योंकि आदमी बदल गया आदमी का मन बदल गया जीवित परंपरा का अर्थ होता है कि बुद्ध से बार बार संबंध स्थापित करके आज के लिए संदेश पाया जा सके अगर ये ना हो सके तो परंपरा बोझ हो जाती और मुर्दा हो जाती ये बोधि सत्वों का जो दुर्ग है हमारे चारों तरफ मौजूद है बहुत निकट क्योंकि हमारे हृदय के पास है दुर्ग इससे संबंध बनाया जा सकता है लेकिन उस संबंध बनाने के लिए पूर्ण समर्पण की दशा चाहिए मूर्तियां हैं मंदिर हैं चर्च हैं गिरजे हैं गुरुद्वारे हैं वे सब प्रतीक हैं संबंध स्थापित करने के एक तरह के यंत्र हैं जिनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है जिन पर ध्यान एकाग्र करने से आप इस लोक से हटते हैं और उस लोक के लिए उन्मुख हो जाते हैं करीब करीब आज पृथ्वी पर बोधि सत्वों का संपर्क छीनतम हो गया है इधर पिछले कुछ दशकों में बेलवडस्की के प्रयास से बड़ा महाप्रयोग हुआ और बड़ी चेष्टा हुई कि बोधिसत्वों के दुर्ग से पुनः संबंध स्थापित हो जाए थियोसॉफी का पूरा का पूरा आंदोलन इस संबंध सूत्र स्थापित करने के लिए ही था लेकिन प्रयास असफल गया हो नहीं पाया थोड़ा काम हुआ और सब अवरुद्ध हो गए और आज कोई इतना बड़ा प्रयास दूसरा नहीं है जो ज्ञान की जो शाश्वत धारा है जो परंपरा है ज्ञान के जो सूत्र सदा उपलब्ध कर लिए गए हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सके और जरूरत बहुत ज्यादा है कि ये हो और अगर ये ना हो तो आदमी भटक सकता है खो सकता है क्योंकि आदमी के पास बुद्धों का जो जीवंत दुर्ग है अगर उससे ही हमारा संबंध विच्छिन्न हो जाए तो हम भटकते ही चले जाएंगे और गिरते ही चले जाएंगे आज आदमी की गिरावट का कारण न तो विज्ञान है आदमी की गिरावट का कारण न तो अनीति है आदमी की गिरावट का कारण न तो अधर्म है आदमी की गिरावट का एक ही कारण है कि अनंत अनंत काल में जो शाश्वत सत्य खोजे गए हैं और उन सत्यों की संपत्ति जिनके पास सुरक्षित है उनसे हमारा संबंध छीन हो गया है उस संबंध को पुनर्जीवित किया जा सके तो ही मनुष्य को बचाया जा सकता है अन्यथा ये पृथ्वी खाली कर देनी पड़ेगी अन्यथा इस पृथ्वी पर आदमी के बचने की इस सदी के बाद कोई संभावना नहीं एक महा आंदोलन की जरूरत है कि पृथ्वी के कोने कोने में सभी धर्म परंपराओं से संपर्क पुनर्जीवित किया जा सके ये किया जा सकता है अगर आप समर्पित हैं और ध्यान में पूरी तरह डूबते हैं तो आज नहीं कल अचानक आप पाएंगे कि आप एक दूसरे लोक में प्रवेश करने लगे और दूसरे लोक की वाणी आपको सुनाई पड़ने लगी और दूसरे लोक की आत्माएं आपसे संबंध स्थापित करने लगी वे सदा उत्सुक हैं सिर्फ आपकी तरफ से द्वार खुला चाहिए और तब आप पाएंगे कि आप नाहक ही परेशान हो रहे थे जिनसे मार्गदर्शन मिल सकता है वो बहुत निकट है ये सूत्र कहता है साथ ही चूंकि मनुष्य इसे नहीं देखता है इसलिए वह न स्पर्श कर सकता है और न प्रज्ञा की वाणी को सुन सकता है क्योंकि वह जानता ही नहीं लेकिन ओ जिज्ञासु निर्दोष आत्मा वाले तूने तो इसे सुना है और तू तो सब कुछ जानता है इसलिए तुझे निर्णय करना है अतः एक बार फिर से सुन हे सोबान के मार्ग हे श्रोतापन तू सुरक्षित है देख उस मार्ग पर जहां थके हुए यात्री को अंधकार का सामना करना होता ये उसे याद दिला रहा है ये सूत्र सिर्फ याद दिला रहा है निर्वाण के पहले खो जाने की संभावना है ये सूत्र याद दिला रहा है कि तू तो अब सुरक्षित है अब तुझे तो कोई भय ना रहा तूने वो वाणी सुन ली जो मुक्त करती है और तूने वो सत्य स्पर्श कर लिया कि अब तुझे कोई दुख नहीं है तेरे पैर निरंतर आनंद में बढ़े जा रहे हैं लेकिन स्मरण कर उस मार्ग का जहां तू कल चल रहा था और जहां तुझे कोई सहारा न था और जहां तुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला न था उस मार्ग पर अभी भी थके हुए यात्री अंधेरे का सामना कर रहे हैं जहां कांटों से छिटकर हाथ लहूलुहान हो जाते हैं जहां पांव तीखे व कठोर पत्थरों से पर जाते हैं और जहां काम अपने शक्तिशाली अस्त्र चलाता है वहां जरा सी दूरी ही पार कर एक बड़ा वरदान महान पुरस्कार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है अगर तू जरा सा लौट के पीछे देख तो जिस रास्ते पर तू कल तक था वहां करोड़ों लोग जैसा तू भटकता था वो भटक रहे जिन दुखों में तू डूबता था उसमें वे डूब रहे हैं जिन पीड़ाओं को तू अपने हाथ से पकड़ के भोगता था वहां वे अपने ही हाथों से अपनी पीड़ाएं निर्मित कर रहे हैं और भोग रहे हैं पीछे के नर्क को देख ये नर्क अगर दिखाई पड़ जाए तुझे तो तू उनकी सहायता के काम पड़ सकता है वह शांत और अकम्प यात्री इस धारा पर बहता चला जाता है जो निर्वाण को चली जाती है वह जानता है कि जितने ही उसके पांव खून उगलेंगे उतना ही वह स्वयं धुलकर स्वच्छ हो जाएगा वह भली भांति जानता है कि सात छोटे छोटे क्षणभंगुर जन्मों के बाद निर्वाण उसका है ये भी तुझे साफ है कि ज्यादा देर नहीं है तेरे महानिर्वाण में खो जाने शीघ्र ही थोड़े ही जन्मों में तो समस्त रूप से महाशून्य हो जाए इसके पहले कि तू महाशून्य हो जाए तू महाशून्य होने की जल्दी मत कर ऐसा है ध्यान का मार्ग जो योगियों का आश्रय है और जिस अपूर्व लक्ष्य के लिए श्रोतापन लालायत है वो जो धारा में प्रवेश कर रहा है साधक है नया है लालायत है इस महाशून्य को जाने वाले मार्ग पर चलने के लिए लेकिन जब उसने अरहत का मार्ग पार कर लिया तब कोई लालसा नहीं अरहत होते ही सारी लालसाएं शांत हो जाती हैं सारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं तब खतरा है क्योंकि जब स्वयं की वासना क्षीण हो जाए तो दूसरे की भी दिखाई नहीं पड़ती और जब स्वयं के दुख मिट जाए तो दूसरे के दुखों का कोई ख्याल नहीं रह जाता हम वही जानते हैं जो हमारे भीतर होता रहता जो हमारे भीतर बंद हो गया हम भूल जाते हैं कि दूसरों के भीतर अभी जारी वहां सदा के लिए क्लेश मिट जाता है अर्थ होते ही सिद्ध होते ही सारा क्लेश मिट जाता है और तनहा की जड़ें उखड़ जाती हैं तृष्णा के सारे जाल टूट जाते हैं लेकिन ओशिश रुक अभी भी एक और शब्द कहना बाकी है क्या तू ईश्वरी करुणा को मिटा सकता है करुणा कोई सदगुण नहीं है यह नियमों का नियम है शाश्वत लयबद्धता आलय की आत्मा इसे ही तटहीन जागृतिक तत्व नित्य सम्यक्त की प्रभा सभी वस्तुओं का कौशल और सनातन प्रेम का विधान कहते हैं एक शब्द और अर्हत के लिए सूत्र कहता है कि एक शब्द और सब हो चुका तेरी तृष्णा मिट गई तेरी तृष्णा के साथ ही तेरे दुखों का सागर तिरोहित हो गया खुद की तृष्णा ही खुद का दुख है तुझे कुछ पाने को ना बचा तूने सब पा लिया तू हो गया जो हो सकता था तेरा फूल खिल गया लेकिन एक आखिरी शब्द और और वो आखिरी शब्द है करुणा के संबंध में इसे हम समझ लें जिस जगत में हम रहते हैं वासना नियम है वासना का अर्थ है हम लेना चाहते हैं पाना चाहते हैं छीनना चाहते हैं जिस जगत में हम रहते हैं वहां वासना नियम है इस जगत के पार होते ही वासना की जगह करुणा नियम हो जाता है वासना का अर्थ है लेना करुणा का अर्थ है देना वासना के ठीक विपरीत वासना चाहती है देना कुछ भी ना पड़े और सब मिल जाए और करुणा चाहती है लेना कुछ भी ना पड़े सब दे दिया जाए वासना से करुणा में प्रवेश अरहत की वासना नष्ट हो गई अब वो चाहे तो सीधा शून्य में विलीन हो सकता है लेकिन बोधिसत्व का जो दूसरा मार्ग है वो कहता है जो जो वासना से तूने मांगा था वो करुणा से लौटा दे निपटारा पूरा कर ले जिनसे तूने चाहा था उनको दे दे बिना दिए भी खोया जा सकता है बिना बांटे भी खोया जा सकता है कोई बांटने की अनिवार्यता नहीं अब कोई दबाव नहीं है अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि बांट ही सच तो यह है कि जब तक जोर जबरदस्ती है बांटने की तब तक हमारे पास बांटने को कुछ नहीं होता जिस दिन बांटने को मिलता है कुछ उस दिन कोई जोर जबरदस्ती नियमों की नहीं रह जाती परम स्वतंत्र है चेतना चाहे तो बांट सकती तो ये सूत्र कहता है करुणा कोई सदगुण नहीं है ये कोई नैतिक गुण नहीं है जिसे तू ये कौन मित्र हो रहे हैं शांत हो दूसरों को बाधा ना दे करुणा कोई सदगुण नहीं है यह नियमों का नियम है शाश्वत लयबद्धता आले की आत्मा इसे ही तटहीन जागतिक तत्व नित्य सम्यक्ति की प्रभा सभी वस्तुओं का कौशल और सनातन प्रेम का विधान कहते हैं ये करुणा कोई नैतिकता नहीं है जिस करुणा की यहाँ बात की जा रही ये करुणा कोई दया भी नहीं कि दूसरों पर दया कर क्योंकि दया में भी अहंकार मौजूद है ये करुणा तो प्रेम का एक विधान है इसमें कोई अस्मिता नहीं है कि मैं दया करूं तो श्रेष्ठ हो जाऊंगा अब और कोई श्रेष्ठता आरत के लिए बाकी ना बची उसने सारी श्रेष्ठता पा दी अब देने से कुछ और ज्यादा नहीं हो जाएगा वो अब बांटना उसके लिए कोई पुण्य नहीं है उसने सब पुण्य पा लिए इसलिए सवाल उठता है कि अरहत क्यों बांटे क्योंकि हमारी भाषा में यही तकलीफ है कि हम सोचते हैं जब कुछ मिलने ही वाला नहीं है उससे तो बांटे क्यों तो बांटना क्या न कोई दबाव है न कोई मिलने की आशा है न कोई बढ़ती होने वाली है अरहत से ऊपर जाने का कोई भी उपाय नहीं है आखिरी शिखर छू लिया गया सूत्र कहता है ये कोई दया नहीं है इससे कुछ अर्जित होने वाला नहीं है लेकिन ये प्रेम का विधान है जैसे वासना जगत का विधान है ऐसा करुणा जगत के पार जाने वाले का विधान है ये स्वेच्छा से चुना हुआ नियम है इसलिए इसको नियमों का नियम कहा है क्योंकि जो नियम स्वेच्छा से नहीं चुने जाते हैं वो आधारभूत नहीं ये अल्टीमेट ला है ताओ इससे नीचे और कोई नियम नहीं जाता मांगना ऊपर ऊपर है देना नीचे है वासना सतह पर है करुणा आधार में है जितना ही तू इसके साथ एकात्म होता है जितना ही इसके अस्तित्व में तेरा अस्तित्व घुल मिल जाता है जितना ही तू इसके साथ एक होता है जो है उतना ही तू स्वयं परिपूर्ण करुणा बन जाएगा ऐसा है आरी मार्ग पूर्णता के बुद्धों का मार्ग बुद्ध आर्य शब्द का बहुत उपयोग किए आदि का अर्थ होता है श्रेष्ठतम ऐसा है आर्यों का मार्ग जो श्रेष्ठतम है उनका मार्ग ऐसा है पूर्णता को प्राप्त बुद्धों का मार्ग कि वासना के जगत के बाद वे करुणा के नियम को स्वेच्छा से चुन लेते हैं ये चुनाव उनका है कोई अपरिहारता नहीं परिपूर्ण स्वेच्छा है स्वेच्छा से ही वे खड़े हो जाते हैं संसार में उनकी सहायता करने को जो अभी भटक रहे हैं इसलिए उन्हें समझने में हमेशा कठिनाई होती क्योंकि हमें लगता है कि अगर एक बुद्ध भी आपको समझा रहा है तो जरूर उसका कोई मतलब होगा कोई प्रयोजन होगा तो क्योंकि हम प्रयोजन की भाषा समझ सकते हैं हमारी कोई गलती भी नहीं है हम केवल वासना की भाषा समझ सकते हैं हमारी कोई भूल भी नहीं अगर कोई आपको बदलने की भी कोशिश कर रहा है तो जरूर उसका कोई प्रयोजन होगा जरूर इससे उसे कुछ लाभ मिलता होगा जरूर इससे वो कुछ पा रहा होगा या पाने की कोई वासना रखता होगा कोई प्रतिष्ठा कोई पद कोई यश कोई महत्वाकांक्षा जरूर भीतर होगी नहीं तो कौन किसके लिए परेशान होता और क्यों परेशान होता वासना की भाषा में जो जीते हैं उन्हें करुणा का बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है कोई उपाय ही नहीं जैसे अंधे को प्रकाश नहीं दिखता वैसे वासना वाले को करुणा नहीं दिखाई पड़ती करुणा भी अगर दिखाई पड़ती तो वो समझता है इसके भीतर भी कोई ना कोई वासना जरूर छिपी इसलिए बुद्ध सदा ही गलत समझे जाएंगे ये उनका भाग्य है गलत उनको समझा ही जाएगा क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे हैं उनकी भाषा और है उनका नियम और है लेकिन फिर भी वे चेष्टा में रत रहेंगे क्योंकि जैसे जैसे उन्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है अपनी पीड़ाओं का पथ जिस पर वे गुजरे हैं अनेक अनेक जन्मों में वैसे ही उन्हें दिखाई पड़ने लगते हैं अनेक अनेक आत्माएं उसी तरह की पीड़ाओं में गुजरती हुई ये सूत्र बोधिसत्व पैदा करने के सूत्र हैं जो भी अरब के मार्ग पर जा रहा है उसे इनका स्मरण न हो ये सूत्र ख्याल में न हो तो वो लीन हो जाएगा अनेक बुद्ध खो गए हैं शून्य में सीधे है ये सूत्र सिर्फ इस बात के लिए गहरी चोट करने के लिए है कि इनका ख्याल बना रहे तो महायान में जैसे ही साधक ध्यान के करीब पहुंचने लगता है इस तरह के सूत्र उसके गुरु उसको देने लगता है क्योंकि अब डर का क्षण करीब आ रहा है अब वो खतरनाक क्षण करीब आ रहा है जब साधक चुंबक की तरह खींच लिया जाएगा सुनने में और खो जाएगा ख्याल रखें जब भी आनंद घटता है तो कौन रुकना चाहता है एक कदम भी कौन रुकना चाहता है जब महा आनंद निकट खड़ा हो तो आप उसकी तरफ पीठ न कर पाएंगे तब तो मन होगा कि कूद जाए डूब जाए उस समय इन सूत्रों का स्मरण बना रहे तो शायद कोई पीठ फेर के खड़ा हो जाए और लौट के संसार की तरफ देखे जो उसके पीछे रह गया है देखते ही संसार को दूसरा नियम शुरू हो जाएगा करुणा का लेकिन अगर न देखा तो वो नियम काम नहीं करेगा एक बार भी पीछे लौट के देख लिया वासना तिरोहित हो गई करुणा सक्रिय हो जाएगी दूसरे नियम का सूत्रपात हो गया अरत के मार्ग पर हीनयान के मार्ग पर ठीक इससे उल्टे सूत्रों का काम होता क्योंकि आन के साधक को समझाया जाता है कि जब महाशून्य करीब आए तो तू लौट के पीछे मत दे क्योंकि अगर तूने लौट के पीछे देखा तो फिर युगों तक तुझे ठहरना पड़ेगा एक बार पीछे देख लिया तो वो जो दृश्य है पीछे वो हमें पता नहीं कि वो दृश्य कितना भयंकर है ऐसा समझें कि अगर मैं आपकी सारी वासनाओं को खोल के देखूं आपकी सारी पीड़ाओं को हृदय के कांटों को सबको उघाड़ के रख लू तो जो मुझे दिखाई पड़ेगा एक एक आदमी एक एक नर्क है ऊपर से लिपअप होता है व्हाइट वास्ट है वो अलग बात है ऊपर से दीवार बना रखी लिप पोत के रंग रोगन का रखा है कुछ दिखाई नहीं पड़ता अगर हम आदमी को खोल ले तो नर्क की मवाद बहनी शुरू हो जाए अगर हम सारे जगत को जब कोई बोधिसत्व पीछे लौट के देखता है तो वहां मवाद का पीड़ा का दुख का घृणा का हिंसा का राज तो के साधक को आखिरी क्षण में कहा जाता है कि तू पीछे भर लौट के मत देखना क्योंकि नदी जब गिरने लगती सागर में तो एक बार पीछे लौट के देख लेती उस रास्ते को जिस पर होके आई तू लौट के पीछे मत देखना अन्यथा फिर तुझे किनारे पर रह जाना पड़ेगा अनेक अनेक युगों तक क्योंकि जो तुझे दिखाई पड़ेगा वो तुझे करुणा को पैदा कर देगा अपना अपना चुन लेना चाहिए और उस सूत्र को ध्यान पूर्वक मन में बिठाया जाना चाहिए गहरे गहरे ताकि वो अचेतन में प्रवेश कर जाए और जब हम द्वार पर खड़े हों तो हमारे काम आ जाए अगर लगता हो कि हीनयान ही मार्ग है लगता हो कि मुझे ही शून्य में चले जाना है तो फिर इन सूत्रों से बचना चाहिए और लगता हो कि उचित है यही क्योंकि मेरा फिर कुछ भी खोएगा नहीं अनंत काल भी अगर रुका रहूं मैं किनारे पर तो मैंने जो पाना था वो पा लिया है कुछ मेरा खोता नहीं लेकिन मैं दूसरों के काम आ सकता हूँ और एक दूसरे करुणा के नियम का हाथ में सूत्र आते ही मैं सहयोगी और सहारा बन जाता हूं few question Someone has asked. trying making effort. But the effort seems to be half-hearted. So how to make it whole-hearted? It It is so. Because you go on withholding yourself if you are jumping, dancing, screaming, you are not moving totally in it because of some fear. That fear creates the division. You are afraid that if you move totally in it, it may not be possible for you to come back. That fear if you express your madness wholeheartedly, the fear is there, you may not be able to come back from that madness. The madness may take over, may possess you. This fear creates a division. The major part stands in control and the mana part is only allowed to move. That movement becomes false. Because then it is just imposed. The measure is in control. Lose control. And don't be afraid. Fear is the barrier and the division comes through fear, then you go on protecting yourself and at the same time allowing. These both are contradictory. And because of this contradiction, your effort is wasted, energy is dissipated, because you are fighting within yourself. One part expressing, another part controlling. You are contradictory. You are fighting. In this inner fight, your energy is wasted. Either move totally or don't move. Decide. If I am going to do, then I will get involved totally. Otherwise, I'm not going to do. But remain whole. And I'm here if you cannot leave yourself here while I'm working on you, you will not be able to leave yourself totally at home. Don't be afraid. If you lose all control, don't be afraid because I am here. I can help you in every way. And once you know that when you let go totally, the bliss of it, the ecstasy of it, even for a single moment, the total let go will allow you to have a glimpse of the real that glimpse will become the foundation. And you will never be afraid again. And once you have moved to the very hell, to the very madness, and you come back again, for the first time you are in control. Never before. You were never in control because the fear was always there. That fear shows you are not in control once you have gone to the very roots of your being and have returned back, now you are in control. Now you are not afraid. Remember this and use this camp more wisely. Because while I'm here watching you, observing you, you need not be afraid. If you are afraid here, then at back at home, you will not be able to let go. This is the last day. Be in a total let go. And I promise you, there is no fear. You are not going to lose anything by losing yourself in it. You are going simply to gain. You are not going to lose anything except your madness. You have nothing to lose. Karl Marx has said somewhere that proletariats have nothing to lose except their chains. I would like to say the same to you. Man has nothing to lose except his chains, except his slavery, except his bondage, except his misery and hell. You have nothing to lose. Don't be afraid. What have you got to lose? A naked man afraid of losing his clothes What have you got to lose? Move wholeheartedly. Once you move, then there will be no problem. But once you have experienced, once you have tasted the feeling, the freedom, the ecstasy that comes when you are in a total let go, the fear will disappear forever. Only through freedom fear disappears. And the freedom can come only to a man who is whole, not divided, not divided in fragments. Second question someone has asked Why meditate? Why seek? I don't say. I don't insist that you should meditate. It is you who are seeking it. And you have to seek it. It is just like a man who is ill and asks, why medicine? Because you are ill. If you are not ill, then there is no need. Why seek health? There is no need if you are healthy. If you are not, then you have to seek. meditation is meaningful, not for a Buddha. One who has attained his wholeness of being, meditation is just like medicine. It has to be thrown. And unless you become capable of throwing your meditation, you are not healthy. So remember, meditation is not something to be carried forever and ever. The day will come. The meditation has worked. Meditation is no more needed. You can forget it. People come to me and they ask me, when you do meditate, never. I don't meditate at all. There is no need. Because meditation is medicinal. You are ill, in conflict, in misery, it is needed. and you go and ask him, why meditate? I'm not saying you should meditate. If you think you are happy, happy with yourself, if you think there is no problem, if you think there is no worry, if you think there is no anguish and anxiety, there is no need. But there is everyone has a deep anguish within him, a deep madness within him. And because of that, you ask, why meditate? Because you are afraid. Because through meditation, you may lose your madness, your anxiety, your anguish. And we have become so accustomed to it, so habitual the friendship has been so long that you will feel very lonely if you become healthy. Very lonely. A person who has lived his whole life with headache, if suddenly the headache disappears, will feel as if he has become headless. Because now he cannot feel his head. and we have become accustomed with miseries. They give you a sense of being. If you have nothing to complain, you feel you are no more. That's why people are complaining every day. With everyone, they are talking about their miseries and are very happy when they talk. Look at a person when he talks about his miseries he feels He is something. The more he talks, the more he exaggerates his miseries, the greater he becomes. Look at the face when a man is talking about his miseries. He looks ecstatic. If you go to a doctor and you think that you have got cancer or you have got TB or something big, and the doctor says nothing. And this ordinary mixture will do. You feel very disheartened. Such a big misery. And he is saying nothing. Just an ordinary illness, and by this ordinary mixture, it will disappear. You feel as if you have been dethroned. You were sitting on the throne of cancer, and this is just ordinary disease, and this ordinary mixture will do. You talk about your miseries, your diseases, illnesses, you magnify them. With their magnification, you feel yourself magnified. That's why the mind, the ill mind asks, why meditate? The very question means you need meditation. The why, the very why. A person who is not in need of meditation never asks why. Really, he stops asking because all asking is part of anxiety. If you are silent within, peaceful, blissful, you don't ask. The philosophers are the most miserable men. They go on asking, why this, why that? That constant why is an inner disease look at in this way. When something goes wrong, then only you ask why. When everything is okay, you never ask why. You ask why there is misery. You never ask why there is bliss. You ask why there is death. You never ask why there is life. You ask why there is hate. You never ask why there is love. When there is love, there is no question. You accept it totally. When there is hate, the question arises. When you are in bliss, no questioning, no inquiry, no philosophy arises out of it. When you are in anguish, suffering, you ask why this suffering? Why I am suffering? Why this whole world is suffering? Only when something goes wrong, the question arises. When everything is okay, there is no questioning. You accept existence in its totality. So remember this. If you have the why, you need meditation. Because without meditation, the why will not disappear. And the answer comes only to those who have stopped questioning. Because the answer can be understood only by those who are not in the mood to question. Because the questioning mind is not in the mood even to hear. It goes on questioning. Questions are created in the mind just as leaves come out of a tree. If your mind is ill, questions will come out of it. If your mind has disappeared and the inner wholeness and health is gained, questions is done. And when there is no question, you have got the ultimate answer. That ultimate answer is not in words, it is existential. You live it, you become it. Now get ready for our meditation. पूरी शक्ति लगाएं आखिरी दिन को ख्याल में रखें और पूरी शक्ति लगाएं और सब भांति लीन हो जाएं और डूब जाएं और कोई भय न करें सारा भय मुझ पर छोड़ दें Be total in the meditation and don't fear. Leave everything to me, I am here. Don't be afraid. Throw out all your madness so that the inner silence can flower कोई मित्र देखने आ गए हो तो बीच से हट जाएं, बीच में कोई देखने वाला ना खड़ा रहे मैदान में वही लोग रहे जो कर रहे हैं आंख पे पट्टियां बांध लें आसपास जगह बना लें feel space around you so that you can jump dance and go mad easily करना चाहें सुविधा से कर दें if you want to do it in nude please do it it will be helpful